वेनस्तत् पश्यन् गुहास यत्र विश्वम् भवति एकृडम् तस्मिन्निदम् चैति सर्वम् स्रोत प्रोतश्च विभुः प्रयासु समादनीय विद्युतगण मातृशक्ति ब्रह्मचारीगण व्यक्ति को सदा ये विचारते रहना चाहिए कि मेरे जीवन की सफलता का आधार कौन से साधन हैं इसी के साथ साथ यह भी सतत ज्ञात रखना चाहिए कि मेरे जीवन को विफल बनाने वाले कौन कौन से बाधक हैं तीसरी बात है कि ये जीवन की सफलता क्या है विफलता क्या है दर्शनकारों ने ये बात कही कि हेय हेय हेतु हानम हान उपाय इन चारों प्रकार के पदार्थों को जानना शब्दार्थ संबंध को जानने के पश्चात तदनुरूप आचरण करना उसके विपरीत आचरण को छोड़ देना इस प्रयोग में प्रयास में प्रयत्न में बार बार विफल होने पर भी निराशावादी न बनना उत्साह श्रद्धा ये ज्यों के त्यों बने रहना इन्हीं विषयों में भिन्न भिन्न विविध प्रकार के ज्ञान विज्ञान की गवेषणा करना अर्थात जो हमें ये जान करके चले हैं कि चार विभागों में विभाजित पूरा पदार्थ मात्र हेय हेय हेतु हानम हान उपाय दुख दुख का कारण सुख और सुख का उपाय इन्हीं विषयों में व्यक्ति प्रयोग करता जाता है और इन्हीं विषयों में एक नवीन नवीन ज्ञान विज्ञान की गवेषणा करता है अब उसने जो जाना है वो बहुत थोड़ा है कोई ये मानने लगे समझने लगे कि मैंने इन विषयों में जान लिया है और अब जानना शेष नहीं रह गया ऐसा मान के कोई चलने लग जाता है तो परिणाम यह होता है कि उसकी स्थिति ऐसी नहीं बन पाती कि वह जीवन की अंतिम सफलता को प्राप्त कर ले एक भिन्न स्तर है वो कौन सा वो स्तर है उन तत्ववेताओं का जो उस स्थिति में पहुंच चुके हैं अच्छे प्रकार से जान गए हैं कि हम जहां पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच गए एक स्थिति है ये पुनरअपि वो क्या सोचते हैं अब इसके लिए भी अर्थात क्या कुछ इन विषयों में और जानने के लिए भी कुछ प्रयास करना चाहिए वो देखता है कि ज्ञान अथवा ये चारों विषय इतने विस्तृत हैं आगे बढ़ते जाएं तो बहुत सी बातें ऐसी रहती हैं जीवात्मा वहां तक पहुंच भी नहीं पाता वो भी ये नहीं मानता कि अपने औरों के कल्याण के लिए और कोई गवेषणा करने योग्य पदार्थ नहीं रहा वहां पर भी वो कहता और जाना जाना चाहिए जितना हो सकता है और उनको अलग करो जो अभी कृतकृत्यता तक नहीं पहुंचे हैं उनके लिए अलग विभाग बन रहा है वो भूल क्या कर सकते हैं वो उस स्थिति में पहुंचे बिना ही ऐसा मानना आरंभ कर देते हैं कि मैं इन विषयों को ठीक जान गया हूं भूल यहां पर होती एक उदाहरण लेते हैं आप उसका प्रयोग करके देख सकते हैं क्या कोई व्यक्ति इन विषयों को जानने वाला पढ़ने पढ़ाने वाला लेखक क्या वह पूरे दैनिक जीवन में स्वस्वामी संबंध को तोड़ के रहता है अथवा स्वस्वामी संबद्ध युक्त रहता है स्वस्वामी संबद्ध रहना और दूसरे पक्ष में ईश्वर को स्वामी मान करके इन पदार्थों का प्रयोग करना ये शरीर इंद्रिया नश नाड़ियां और बाहर के पदार्थ जितने भी हैं सबके साथ जोड़िए क्या दैनिक जीवन में व्यक्ति इन सब का स्वामी ईश्वर को मान के प्रयोग करता है अथवा कभी कभी करता है या कुछ घंटे करता है या करता ही प्राय नहीं है विषय तो पढ़ लिया समझ में आ गया सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं आदि मूल परमेश्वर है शब्दार संबंध ज्ञात हुआ है उस स्थिति में आप अध्ययन करेंगे कि दैनिक जीवन में आप कितना प्रयोग करते हैं उसको मन वाणी शरीर से तीनों से देखिए आप उसमें कितना प्रयास करना होगा और कैसी स्थिति हमारी रहेगी यदि दैनिक जीवन में तीनों से प्रयोग करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसको जान के पढ़ पढ़ा के आप संतुष्ट हो गए हो कि हमने जान लिया कि स्व स्वामी संबंध बाधक है ईश्वर साक्षात्कार और हम इसका प्रयोग अच्छा कर लेते प्रयोग होने लग गया और अच्छी स्थिति बन गई है ये स्थिति व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती ये मान्यता व्यक्ति की उसको आगे नहीं जाने देती वो देखता है देखना चाहिए कि वास्तव में जो सिद्धांत हमारे सामने आया है उपस्थित है उसमें क्या मेरा मन और वाणी और शरीर ये तीनों के तीनों एक तानता में रहते हैं कि मैं चौबीसों घंटे कहना चाहिए जब सो न जाए असावधानी जहां हो जाती है उसको छोड़िए क्या शास्त्र बना रहता है क्या उसको देखना है वो कितना बना रहता है उसको देखते रहना पड़ता है इतना रहा इस घंटे में इस मिनट में इस अवसर पर इतना नहीं रहा आप आत्मनिरीक्षण करके देखें क्या संतुलन इस स्तर पर बना रहता है कि कितना रहा मिनटों में कितना नहीं रहा अब कब मैं भूला ही रहा घंटों तक इस विषय ये भी आप देख सकते ये बात ही ध्यान में नहीं रही कि स्वस्वामी संबंध एक बाधक है और उसको हटाए रहना है ईश्वर को स्वामी स्वीकार करके मान के चलते रहना है और वो स्थिति क्या होगी स्थिति वो होगी इस स्थिति में व्यक्ति ईश्वर समर्पित ही तो रहेगा या कोई और अवस्था होगी नहीं समर्पित रहेगा पूरा ईश्वर का जो गुणकर्म स्वभाव है सर्वव्यापक सर्वज्ञ आदि आदि यदि ऐसा उसने जाना है और ईश्वर को स्वामी समझा है तो आत्मा या उसके विचार या उसका मन या उसकी क्रियाएं ईश्वर साक्षित्व में रहेंगी या नहीं रहेंगी रहेंगी या नहीं रहेंगी स्थिति ऐसी रहेगी ही यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो उसके ये समझ में नहीं आया है कि इस सिद्धांत को स्वीकार कर प्रयोगात्मक ईश्वर के साथ में मेरा कैसा व्यवहार होना चाहिए यह समझ में नहीं आया उसको अब आप आत्मनिरीक्षण करें सभी अपने दैनिक जीवन में कुछ को साथ जोड़ के देखें आप आपने ये तो सुना है पढ़ा पढ़ाया भी होगा कि भाई आगम काल स्वाध्याय काल और प्रवचन काल और व्यवहार काल ये जो प्रयोग होते हैं ये व्यवहार काल में कर करके देखने होते हैं हमको ये जो अब आप सुन रहे व्यवहार काल में इनको हम कर करके देखते हैं बार बार करते हैं करते ही रहते हैं इसको भूल कर कह रहे हैं ना ऐसा ही है जैसा कि हम अपने लक्ष्य पर जहां जाना था वहां तो नहीं जा रहे हैं और कहीं और जा रहे हैं ये इसका परिणाम होगा इसको भूल के रहना इस स्थिति को न बनाए रखना ये निश्चित बात है कि हमको जहां जाना था वहां हम नहीं जा रहे और कहीं जा रहे एक और उदाहरण लेते हैं कि आप अनुभव करते होंगे कि अब हमारी योग्यता कुछ अच्छी हो गई है इस विषय में हम पढ़ा सकते हैं इस विषय हम प्रवचन दे सकते हैं ऐसा अनुभव करते होंगे आप कभी कभी मेरी ये दो बातें अलग अलग हैं जैसे हम हैं वैसा जानना दोष नहीं है क्या समझ में जैसे हैं वैसा मानना दोष आपने एक दर्शन पढ़ा अधिकार है पढ़ा सकते आप पढ़ा सकते हैं अच्छे प्रकार से पढ़ा सकते हैं और ऐसा मानते हैं कि मैं पढ़ा सकता हूं इसमें दोष नहीं है जैसे को तैसा जानना वो गुण है दोष नहीं है पर इसके साथ देखिए आप उस समय इस स्तर पर रहेंगे कि ये जो मेरी योग्यता बनी है ये मैं पढ़ा सकता हूं ये विद्या मेरी है इसको देख सकते हैं आप ये दोष आएगा यहां ये विद्या मेरी है मैं इसका स्वामी हूं ये दोष ऐसे आता दूसरे पक्ष में ये विद्या ईश्वर प्रदत्त है अर्थात ईश्वर ने ऋषियों को यदि गुरुओं से हमारे पास आई है तो परंपराएं चली पर आदि में तो ईश्वर की मानी जाएगी नैमित्तिक ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान अलग अलग हमारा स्वाभाविक ज्ञान कितना कम है कितना कम है फिर नैमित्तिक ज्ञान से हम सब कुछ करते हैं वो आई उन्होंने मुझे पढ़ाया आदि आदि सब ठीक है पर आप ये देखेंगे कि इस विद्या का मूल या इसका देने वाला या इससे युक्त जो रहता है जिसकी ये विद्या है वो ईश्वर की मानी जा रही है या मैं अपनी मानता हूं ये आपने देखना है यदि उसमें ये बात आती है कि ये विद्या मेरी निज की अपनी व्यक्तिगत विद्या है तो यह दोष आ जाए आप परीक्षण कर सकते हैं इतना पढ़ने पर भी फिर भी व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में नहीं जा पाता या ये कहना चाहिए ये जब सिद्ध बात है कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि होती है ये सिद्ध बात है सिद्धांत रूप है या नहीं है यदि ईश्वर परिधान है तो समाधि क्यों नहीं होगी यदि इस व्यक्ति ने स्वस्वामी संबंध तोड़ दिया है और ईश्वर को स्वीकार कर लिया है स्वामी स्वस्व का तो समाधि क्यों नहीं होगी होगी ही इसमें कोई भी कोई बाधा नहीं है कोई मतभेद नहीं है कोई रुकावट नहीं है यदि नहीं हो रही तो समझ लेना ये दोष विद्यमान है बाधा यहां पर आगे खड़ी हुई एक उदाहरण चल रहा है उदाहरण तो अनेक बन जाएंगे इसके समझने समझाने की दृष्टि से और बाधक आपको मैं दिखाता हूं एक बाधक है कि इतना पढ़ने पढ़ाने समझने समझाने पर भी वो बाधक इस रूप में रहता है कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं अथवा किसी लौकिक स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आप देखेंगे कि व्यक्ति कुछ लौकिक वस्तु अथवा सुख या सुख का साधन कहिए उसको प्राप्त करना चाहता है उसका लौकिक प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है लौकिक प्रयोजन चाहे वो पुत्रेशना हो वित्तेषणा हो लोकेशना हो तीन में सारी इच्छाएं आ जा रही इनके लिए कुछ प्रयासशील है इन स्थितियों को प्राप्त करना चाहता है चाहे वो मान हो चाहे वो धन आदि भोग हो चाहे कोई पुत्र की इच्छा हो शिष्य की इच्छा हो तीनों इच्छाओं में से वो इच्छाएं उसके मन में रहती है अच्छा वो इच्छाएं जब रहती है उस स्थिति में व्यक्ति इन सिद्धांतों को जीवन में नहीं उतार पाता अब आप देखेंगे कि वो इच्छाएं जो रहती हैं वो क्यों रहती हैं और उनको हम दूर कैसे करते हैं उसमें वो सभी बातें जानने की जब आपने ये पढ़ा कि दुख में श्रम विवेकी न परिणामता जब ये आपने पढ़ा ऐसा देखा और आपको समझ में आया और समझते समझते यहां तक बुद्धि जाती है वो आपने हृदय से स्वीकार कर लिया समझने का मतलब वहां तक पहुंचना स्वीकार कर लिया कि वास्तव में बात ऐसी ही है मन में बहुत अच्छी लगने लगी वो तो आप ईषणा को छोड़ देंगे एक स्थिति है और यदि अब अच्छी नहीं लगी है शब्द प्रमाण से आप हैं तो वहां वितरकवाद ने प्रतिपक्ष भावना का प्रयोग करना पड़ेगा कुछ समझ में आया एक स्थिति ऐसी है वो हृदय से सुख पूर्वक उसको स्वीकार करता है उसमें कोई उसके मन पर यह प्रभाव नहीं है कि इच्छा तो होती है सम्मान मिले और वो रोक रहा है सम्मान की प्राप्ति से अपने मन को सम्मान की प्राप्ति है मन में और उसको सूक्ष्म रूप से है तो उसको रोकने का प्रयास कर रहा नहीं है नहीं मान सम्मान के लिए आगे नहीं बढ़ूंगा मुझे सम्मान नहीं चाहिए वो प्रतिपक्ष भावना से रोकता है स्थिति भिन्न है ये प्रतिपक्ष भावना से रोकना अकर्तव्य नहीं है जब व्यक्ति है इस स्थिति में तो वो तो युद्ध करना पड़ेगा उसको यदि वो नहीं रोकता तो बहुत बड़ी भूल कर, करता है समझ में आया स्थिति है मन में मान में ले कुछ वो सूक्ष्म हो सकती है वहां पर प्रतिपक्ष भावना से रोकना ये अच्छा प्रयोग है और रोक देना चाहिए यदि नहीं रोकता तो ये हानिकारक स्थिति है नहीं रोकने का मतलब है उसकी इच्छा है कि मुझे मान मिले अंदर से इच्छुक है वो अंदर से यदि इच्छुक है मान के चलिए विरोध नहीं करता उसका तो समझ लेना आपका स्तर गिर रहा है चाहे माने न माने वो गिर गया आपका स्तर उस स्थिति में ईश्वर प्रणिधान की स्थिति और स्वस्वामी संबंध को हटा देना संभव नहीं है ये जो अपर वैराग्य पर वैराग्य की स्थितियां हैं इनका जो स्तर हमारे सामने आता है अर्थात जब हम उस अवस्था को प्राप्त करते हैं उस समय स्वभावतः व्यक्ति के मन मन की स्थिति ये होती है जैसे कि लोक में व्यक्ति आनंदप्रद उत्तम भोजन को खाने का इच्छुक रहता है या उसकी इच्छा है उसकी खाने की उस स्थिति में स्वभाव मन में उसके ये रहता है कि मैं इस भोजन को ग्रहण करूं और जब वैराग्य की स्थिति आएगी तो उस समय उसके मन में इतना उल्लास होगा प्रसन्नता होगी मैं स्थिति को छोड़ू नहीं कौन सी को जिसमें कि लोकेशना को ठुकरा दिया जाता है जिसमें कि लोकेशना को बाधक जाना जाता है वो स्थिति ऐसी होगी जब वो नीचे गिरेगी या बैरा की स्थिति हटेगी तो फिर फिर लोकेशना आकर के फिर वो अपना मानसिक स्तर पर कार्य आरंभ कर देगी मान लो वैराग्य की स्थिति ऊंचे वैराग्य की स्थिति नी, नीचे चली गई अब उस समय उसकी इच्छा क्या होगी सम्मान मिलना चाहिए सम्मान का इच्छुक हो जाएगा व्यक्ति वही है और प्रयास करता है वो व्यक्ति कि वो स्थिति हाथ से चली गई पहले वाली जो थी और जिन बातों से उपलब्ध हुई थी वो यदि उन्हीं का फिर प्रयोग करता है वो वही व्यक्ति तो फिर उस वैराग्य के ऊंचे वैराग्य की स्थिति में वही व्यक्ति चला जाता है फिर वही स्थिति आती है वो जानता है कि मेरी यह स्थिति बनी रहनी चाहिए और लोकेशना वहां अत्यंत विरोधी नहीं दिखाई देगी अंत स्थिति में उसको जगह नहीं देगा वो अत्यंत उसको बाधक मानता है तो जहां पर ये इच्छाएं बनी रहती हैं लोक की कुछ न कुछ वहां पर व्यक्ति उस स्थिति को उत्पन्न नहीं कर पाता जो स्वस्वामी संबंध को पूरा हटा देवे पूर्ण रूपेण और ईश्वर के साथ अपना संबंध पूरा ईश्वर परिधान की स्थिति को जोड़े रखे और जब इन इनको इस रूप में रखता है स्वस्वामी संबंध को नहीं होने देता ईश्वर समर्पित रहता है तब तो ये इच्छाएं जो होती हैं ये बाधित होती है और इनको अंदर वो ग्रहण नहीं करता अब बाधा क्या होती है इतना समझने के पश्चात भी व्यक्ति इन तीन इच्छाओं में से किसी न किसी का इच्छुक बना रहता है इच्छुक जो बना रहना है ये बाधा उसके सामने रहती आपने दर्शनों को पढ़ा और ये बातें सब जान ली पढ़ा भी लेते हैं पर फिर भी वो समाधि की स्थिति क्यों नहीं आती इसलिए नहीं आती ये बाधक मैं सुना रहे आपको इन बाधकों को आपने खड़ा कर रखा बाहर के लोगों ने नहीं इन बाधकों को आपने खड़ा कर रखा है और स्थिति को प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं और एक और बात आश्चर्य की है कि बाधकों को खड़ा किया आपने और आप ये नहीं जान पा रहे मैं बाधकों को खड़ा कर रहा हूं बड़ी विचित्र अवस्था समझ में आया कुछ या नहीं आ रहा बाधकों को खड़ा किया है आपने और आप ये नहीं जान पा रहे मैंने बाधकों को खड़ा कर रखे समाधि प्राप्ति आपको इस स्थिति को प्राप्त करने का अवकाश नहीं मिल रहा है क्या समझ में आया विराम दें अब हैं आपको स्थिति को प्राप्त करने के लिए अवकाश ही नहीं आपके पास में क्यों सांसारिक कार्य बहुत है आपके सामने समझिए मेरी बात आपके पास में पढ़ने के पढ़ाने के अच्छे अच्छे कार्य बाधक है इसमें एक प्रकार से याद रखना बुरे तो बाधक है ही है अच्छे कार्य भी इसमें बाधक कैसे होते हैं ये बड़ा विज्ञान है आप पढ़ने में लगे हुए हैं खूब पढ़ते हैं और कहते हैं मेरा पढ़ने का समय है योगाभ्यास का नहीं है वो गौण है उसके लिए वो गौण बना हुआ है आपके सामने और इसलिए आपके पास में ये भी कार्य है वो भी है ये भी है बहुत से कार्य हैं पर इसके लिए अवकाश नहीं आपके पास इस कार्य के लिए जब अवकाश है ही नहीं तो आप इसको <laughs> इस रूप में नहीं ला सकेंगे इसलिए आपको सावधान हो जाना चाहिए इसलिए उपनिषदकार ने जो बात कही थी वो याद रखने की है इस विद्या को जानने वाला जिसने जाना हो ऐसा सिखाने जानने वाला और इसे सीखने वाला दोनों ही दुर्लभ है उस समय थे आज कितने दुर्लभ है इसकी कल्पना कर लीजिए आप परंतु असंभव कुछ भी नहीं ऐसा नहीं है कि आप इसको प्राप्त करना चाहें और आप ये मान बैठेंगे हम कर नहीं सकते जिसकी इतनी योग्यता है सत्या सत्य को जानने की मनुष्य का आत्मा सत्या सत्य को जानने वाला है सत्यार्थ का नहीं पढ़ा उसका भाव ऐसा ना परंतु हठता दुराग्रह अनेक उसके प्रयोजन प्रयोजन में है सारा और अज्ञान अविद्या आदि के कारण झूठ में झुक जाता है आप इसी बात को देखेंगे और उसमें आप बाधक कारण स्वयं खड़े हुए हैं बाहर का संसार बाधक है दूसरे रूप में जिसने पत्थर मार दिया पता नहीं क्या क्या वो बाधक होता है वो अलग विभाग है पर आप जहां आप स्वयं बाधक हैं वहां स्वयं को बाधक जान लेना और अपने बाधक देखो अपने ने, आपने जो स्वयं बाधा खड़ी की है उसको जान लेना हटा देना ये तो आप कर सकते हैं पर एक बात मैंने वहां बताई आपके पास अवकाश नहीं है इस बात के लिए आप बाधक कैसे है और बाधकों को कैसे हटाएं आप बाहर के कामों में लगे हुए बाहर की चीज तो जीवन की सफलता इन बातों में है इनको समझने में और जो इनको समझ लेता है वह औरों को समझा देता है योगे